समादरणीय विद्वदगण श्रोत्री वृंद कल के सत्संग में प्रमुख जानने के जो विषय हैं के संबंध में सुना सुनाया था संपूर्ण जीवन में यदि इन्हीं प्रमुख चार विषयों को व्यक्ति जानने का प्रयास करता रहे उन को परिपक्व बनाए और उसके विपरीत अज्ञान कुसंस्कार अधर्म आचरण को दूर हटाता रहे तो व्यक्ति का अपना कर्तव्य पूरा हो जाता है अर्थात अन्य विषयों को वो जाने न जाने अन्य विविध प्रकार की विद्याओं को पढ़े न पढ़े और कुछ उपलब्धियां जितनी हो सकती हैं उनको करता है या नहीं करता ये कोई महत्वपूर्ण बात ही नहीं है कि और विषयों के और बल संपत्ति को इकट्ठा करता रहे वो और इनको गौण बना देवे इनके विषय में यथा योग्य न बेचारे तो यह व्यक्ति की एक महती मूर्खता है ये व्यक्ति इतना पढ़ने पढ़ाने पर भी इतनी योग्यता प्राप्त करने पर भी जो प्रमुख विषय हैं जानने जनाने के उन पर कोई बल नहीं देता साधारण भले ही कभी कुछ प्रयास करता होगा परिणाम इसको कलेश भोगने पड़ते हैं परिणाम ये धार्मिक विशुद्ध धार्मिक नहीं बन पाता जितने भी अशांति के कारण हैं उनको उपार्जित करता रहता है और सतत दुखों को भी उपार्जित करता रहता एक और संसार के लोग हैं बुद्धिमान हैं धनवान बलवान हैं वैज्ञानिक हैं एक और ईश्वर है वेद है ऋषिकृत ग्रंथ है ये ईश्वर गुण ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव वेद और ऋषिकृत ग्रंथों को एक गौण साधारण दृष्टि से देखता है और दूसरे पक्ष में भौतिक विज्ञान विविध विद्याएं और धन संपत्ति सम्मान उनको प्रमुख रूप से देखता समझता स्वीकार करता है और ऐसी स्थिति में वह स्वयं को बुद्धिमान मानता है यदि कोई व्यक्ति इसको समझाए कि आप भूल कर रहे हैं ये इनको गौण मानते हैं इनको मुख्य मानते हैं तो वो सहन नहीं कर पाएगा कभी कभी ये पढ़े लिखे लोग उपदेशक लोग कहते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए मैं तो संसार का उपकार करना चाहता हूं अभी इतना झूठा व्यक्ति अपने सम्मान के लिए और जो मुक्ति का वर्णन करते हैं उसका खंडन करना भी इसका उद्देश्य होता है देखो कितने प्रयोजन स्वार्थ है इसके अब जब मैंने योग का वर्णन किया योग की स्थिति बताई उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ गया अब वो जो ईर्षालु व्यक्ति क्या करता है कहता है स्वामी सत्यपति जी मुक्ति में चले जाए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए अब बताइए अब इसको क्या लाभ हो रहा है बस ये बेचारा ईष्णा की चपेट में है और दूसरे की उन्नति का सहन नहीं कर पा रहा इन्हें सारा जीवन खपा दिया ये फल कुछ नहीं पड़ा ये गधे की तरह बाहर डो रहा है मां दुखी है अब ये अपने आप को बुद्धिमान मानता क्या विचित्र बात कितने दोष है इसमें इसने कभी सोचा नहीं दोष रहे दुनिया भर के जिस व्यक्ति की उन्नति प्रभाव आगे दिख रहा है उनको मिटाऊं कैसे ये इसके मन में दर्द है फिर ये अपने आप को इतना महान बताना चाहता है ये तो मुक्ति को भी मार के ठोकर चल रहा संसार का उपकार करने वाला ऐसा व्यक्ति धरती पर कोई बिरला होगा जो मुक्ति को ठुकरा के संसार का भला करेगा ये ये ये दिखाना चाहता है कितनी भयंकर यशना है यद्यपि एक व्यक्ति की चर्चा नहीं है ये अपने अपने ढंग से सब में ये रोग रहता <laughs> आप ये नहीं मानना कि हमारे अंदर ये रोग नहीं है क्या समझ में आया किसी में अधिक किसी में मध्यम किसी में निम्न किसी में और प्रसुप्त तनु विच्छिन्न ये सब में रहता है या नहीं रहता है जी आप में है या नहीं है है जी है या नहीं है है जी अब देखना यह है कि हम जो दुख से छूटना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये दोनों लक्ष्य तो पूरे इससे होंगे नहीं किंतु दोनों आपत्तिजनक ये स्थितियां अर्थात दुख का न छूटना सुख का नहीं मिलना उसका तो ये उत्पादक है जो मैंने ये चित्र थोड़ा सा खींचा ये विचारधाराएं व्यापक है ये कोई व्यक्तिगत ही बात नहीं है ये तो प्रत्येक व्यक्ति में रहेंगी इसमें शब्द प्रमाण से देखना हो तो आपको मिलेगा जैसे कि ऋग्वेदादि वाष्य भूमि काम महर्षिदान सरस्वती ने एक बात उठाई उसका भाव सुनाता तीन ऐषणाएं होती है वित्तेषणा और पुत्रेषणा और लोकेषणा उन्होंने कहा जिसके मन में एक ऐषणा होगी पुत्रेषणा होगी कल्पना उसको वित्तेषणा उसके मन में होगी ही और उसके मन में लोकेषणा भी होगी ही ऐसे दोहराया एक ऐषणा कोई भी किसी के अंदर होगी तो दो दो हैं वो तीनों ही उसमें होगी कोई प्रबल हो सकती है कोई मंद हो सकती कभी उभार आ गया ये और फिर ये बात कही यश्य ईश्वर से बहुत ही भाव सुना रहा हूं जो कि तो शब्द ना होंगे तस्य नहीं निवर्तन क्या समझ में आया ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा जिसमें होगी उसकी तीनों येषणा परिसमाप्त हो जाएगी ये चाहने वाला व्यक्ति मैं दुख से छूट जाऊं बंधनों से नित्य सुख को प्राप्त करूं वो ये नहीं मानता सोचता ये कब होगा ये ये सिद्धि कब हो सकेगी अब जब शब्दार संबंध से उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया अर्थात विधि विधान उसने जान लिया हे हे हे हानम हान उपाय ये तो जान लिया उसका जो प्रयोग होता है वो उससे डरता है देखो कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं और उनसे आप अपने आप को परीक्षा कोटी में जाकर रख सकते हैं कभी कभी व्यक्ति के अंदर कुछ सत्वगुण प्रधान होने से सुनने सुनाने से कुछ विवेक वैराग्य की स्थिति हाथ लगती है उभार आता है ऊंची स्थिति मानसिक स्तर पर बनती है अब आप कल्पना करें कि उस व्यक्ति के मन में एक अच्छा अच्छा स्तर बना सुनने से पढ़ने से घटना को देखने से बड़ा एक विवेक वैराग्य की स्थिति ऊंची होने से बाहर चहल पहल को वो देखना नहीं चाहता उसकी रुचि बाहर से हट चुकी है वो दूसरे के साथ बात भी कम ही करना चाहता है जहां तक हो सके कोई बात नहीं करे उसके साथ में आदि आदि स्थिति बनी है जी अब आप देखेंगे उस चीज को बनाया रखने के लिए वो प्रयासशील है और चाहता है उसके कुछ मित्र आ गए एक कुछ जाने माने लोग आ गए कुछ बुद्धिमान लोग आए और वो देखता है यदि मैं पूर्व की बात इनके साथ बात नहीं करूंगा तो ये मुझे मूर्ख समझेंगे पागल हो गया है आपको डर लगा डर लगते ही वो पहली स्थिति छोड़ दी सांसारिक स्थिति में आगे खड़े हो गए क्या समझ में आया उनके डर के कारण ये मुझे मूर्ख समझेंगे असभ्य समझेंगे पागल समझेंगे इत्यादि उस डर के कारण जो आपने विवेक वैराग्य की स्थिति थी वो छोड़ दी आप समाज में रहें समुदाय में जन समुदाय में रहें और आपको सारे के सारे पागल कहने लग जाए आप सहन करेंगे क्या आप बताओ कौन करेगा इसको सहन आशुतोष जी सुन रहा है कान ढक रहे हो <laughs> कुछ तो कम सुने और कुछ कान डक लो क्यों जी आप बतलाइए क्या सहन करेंगे आप या नहीं करेंगे या करेंगे एक और बात दुखी होके सहन करेंगे या सुख से सहन करेंगे ये एक दूसरी चीज दुखी होकर सहन करने वाला आगे नहीं बढ़ पाएगा सुख बुरुख सहन करने वाला आगे बढ़ेगा अच्छा एक घटना सुनाता हूं घटना का मतलब इसके प्रयोग जो होते हैं एक स्थिति थी जिस समय मैं इस स्थिति में था इस विवेक वैराग्य की स्थिति में और उस समय गांव में रहते थे जैसे और जो परस्पर कुछ मित्रता रखते हैं ऐसे दो व्यक्ति थे हम तीनों घुले मिले जैसे रहते हैं संसार में लोग ऐसे आपस में सारी बातें बताते दूसरे के दूसरे के सामने जैसे ऐसे होता अन्य भी बहुत से थे वो विशिष्ट थे अर्थात सब कुछ छोड़ के घर से जो संबंध कार्य करना आदि आदि सारे व्यवहार छोड़ के जिस दिन मैं केवल इसी ध्यान में ही रहने लगा उस समय उन्होंने एक मास तक मुझे पागल उन्होंने भी पागल ही माना मुझे उन दोनों ने और तो मानते ही मानते थे पागल अब एक मास के पश्चात कहने लगे उनके मन में आया ये तो कुछ बिल्कुल ही विचित्र सी बातें करता है और कुछ विशेष बुद्धिपूर्वक बात सोचता है पागल तो नहीं हो सकता है ऐसा सोचने लगे तो उनको ये बात कुछ जची के वास्तव में कुछ चीज इसके हाथ लगी है कुछ विशेष चीज हाथ लगी है ऐसा कैसे हो सकता अब उन्होंने मेरी बात सुननी आरम कर दी आरम जब कर दी तो उनको भी वैसा ही वैराग्य होने लगा उसी ढंग का और उसी प्रकार से मौन रहना देर तक बैठना ध्यान लगाना आदि आरंभ कर दिया उन्होंने तो घर वालों ने ये देखा जैसे वो तो पागल हो ही चुका है इनके साथ ये और पागल हो गए और ये हमारे हाथ से जाएंगे तो घर वाले उनको खूब धमकाया बन गए भगत बन बैठे ये होगा खूब डांट मारी और दोनों के दोनों घबरा करके वैसे ही हो गए जैसे पहले सांसारिक थे आप विवेक वैरा की ओर चलेंगे तो ये सारी स्थिति आपके साथ आएंगी और मैं तो सुना रहा हूं सिखा रहा हूं कि ऐसी स्थितियां होती हैं आपने सुनी भी नहीं सीखी नहीं इनका उत्पादन कैसे कर लेंगे आप असंभव तो नहीं प्राय व्यक्ति इन स्थितियों को उद्बुद्ध कहां करता है वो संसार में लगा रहता है इन स्थितियों को उद्बुद्ध करने के लिए उसको क्या क्या गहराई में क्या क्या सोचना पड़ता है क्या विचारता है वो कैसे संसार को उथल पुथल करता है वो कैसे संसार नहीं था तो क्या था नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा मैं मरूंगा नहीं मरूंगा ये सारा मंथन कर डालता है तब ये उद्बुद्ध होती है स्थितियां नहीं तो नहीं हो सकती ये उभार उस समय आता है ऐसे व्यक्ति करना नहीं चाहता जब नहीं करना चाहता तो ये उभार भी नहीं आता ये नहीं आता तो विवेक वैराग्य नहीं होते विवेक वैराग्य नहीं होते तो समाधि भी प्राप्त नहीं होती सारी स्थितियां ये अब आगे बढ़े यदि वो डरते नहीं और उनमें डरने का कारण आपको बताऊ मैंने पूर्वापर संसार को मंथन किया प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर सब बातों का समाधान कर डाला कोई डराने वाला व्यक्ति नहीं है संसार में डरने वाला भी नहीं है उन्होंने वो पूरा मंथन तो किया नहीं मेरी बात सुनकर प्रभावित हो गए और जो डर की घटनाएं हैं आने वाली पता नहीं मरने तक के डर है मृत्यु तक का डर व्यक्ति को घेरता है उनको उन्होंने समाधान नहीं ढूंढा तो उन घटनाओं से डर गए कुछ समझ मारे आप उन घटनाओं से वो डर गए यदि उन घटनाओं का भी बौद्धिक स्तर पर वो समाधान कर लेते ये घटना भी होगी ये निश्चित होगी मरेंगे निश्चित ये अब धमकाएगा भी संसार कुछ भी कल्पना सारी कर डालते उनका समाधान कर देते तो घर वालों के धमकाने से वो कभी भी डरते नहीं मैं नहीं डरा घर वालों के धमकाने से गांव का गांव पागल नहीं लगा नहीं डरना क्या डरना पूरा संसार मिटा के रख दिया कौन डरने वाला है और कौन डराने वाला है पूरा संसार मिटा के रख रखा है और वो दृढ़ अंतिम निर्णय हो जाता है निश्चित ऐसा ही था ऐसा ही होगा कैसे कैसे घटनाएं आती हैं सामने अब और सुनाता हूं आपको उनमें से एक व्यक्ति ने जब ये बातें सुनी थी और प्रभावित हुआ था वो व्यक्ति अपने दिन में विचारता रहा सोचता रहा जैसे मैंने अनित्य है सारा संसार नाशवान है सब कुछ ईश्वर का है वो ऐसे ही सोचता रहा ऐसे ही सोचता रहा तो ये जैसे ये होते ना ये पेड़ है ऐसे करीब कैद पेड़ होता है जिस की संविधाओं से अरे क्या विशिष्टि यज्ञ किया जाता है विधान है ना कारी रह करीर की संविधाएं कारी रह उसके फल लगते हैं कभी गांव में नगरों में बेचते देखे हो उसका शाक बनाते हैं अचार डालते हैं पकने पर वो मीठा गोल गोल हो जाता है ना ना ये इसको कैर या करीर है संस्कृत में तो गांव के लोग इसको कैर बोलते हैं बहुत काट डाले अब तो कम मिलते हैं वो तो वो क्या करता वो उस करीर के ऐसे पेड़ के नीचे बैठ करके अपना ये मंथन कर रहा था ये सब कुछ नाशवान है ये सारा विनाश को प्राप्त होगा पर याद रखना जब मृत्यु कोई व्यक्ति सामने जाता है बौद्धिक स्तर पर तो जितने मृत्यु से होने वाले डर हैं सांप का डर चोर का डाकू का डर पता नहीं क्या क्या डर होते हैं संसार में वो भयंकर डरावने वाली भावनाएं उद्बुद्ध होती हैं अंदर उदाहरण के रूप में किसी को मृत्यु दंड का आदेश मिला इसको फांसी तोड़ दिया जाएगा और इसको बचाने वाला संसार में कोई भी नहीं है उस समय जो कल्पना होती है उसके मन में डर की कल्पना है मैं मिट जाऊंगा मैं ये हो जाऊंगा ये हो जाएगा पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा उस समय काल्पनिक दिखाई देगा ये विचित्र स्थिति पैदा होती है मृत्यु के समय आपने कभी एक समझने की दृष्टि से गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की एक घटना उसका भाव सुनाता हूं उन्होंने जो लिखा उसका भाव उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था विदेश का और वो सेना में आगे चला गया जब आमने सामने जो दल युद्ध होता था टुकड़ी जो पहली टुकड़ी खंड जाता था प्राय समाप्त हो जाता था फिर पीछे एक दल और जाता था सेना का आमने सामने गोलियां चलती थी जैसे तो उन्होंने बतलाया है कि वो व्यक्ति युद्ध में था और उसको उसके मन में शत प्रतिशत बैठ गया मैं अगले मोर्चे पर जा रहा हूं और बचना हूं ही नहीं हो ही नहीं सकता मैं बच के आ जाऊं ये दिमाग लेके आगे युद्ध में बढ़ गया भयंकर रूप से मरे गए कट गए सब कुछ हो गया एक आध व्यक्ति तो बच ही जाता वो बच गया सारे तो नहीं मतलब बच गया वो बचने के पश्चात कोई मित्र था या कौन था उसने पूछा उसी से कि भाई मैं अमुक व्यक्ति से मिलना चाहता हूं बताओ वो कहते वो तो युद्ध में मर गया अपने आप को कहता वो वो तो मर गया इतना परिवर्तन मर गया वो तो लड़ाई हुई थी मर गया वो इतना दिमाग बदलता है कभी पागल हो जाओ आप तो ये जो स्थिति है वो करीर के नीचे जब बैठा था याद रखना और मृत्यु की घटना वो ले लेकर चल रहा था वो जिसे मैंने उसको बताया अब उसको काला सांप दिखाई दिया आंख बंद की वजह से होता है और उस शाखाओं में को काटने वाला जैसे है और वो भाग पड़ा वहां और बड़ा डरा हुआ घबराया हुआ वो दूसरा जो था हम तीन में से फिर निकेश को तो पता नहीं क्या हो गया बोलता नहीं पता नहीं क्या पागल जैसा हो गया है धीरे धीरे उससे पूछा गया क्या बात होगी बताओ ना आज उनके उसने बताया कि ऐसे काला सांप था मुझे काटने के लिए आया जैसे था तो मैं भाग पड़ा मैंने कहा होता कुछ नहीं ये तो काल्पनिक है मन को समझा ये काल्पनिक होता नहीं है डर से संस्कार बनते जैसे स्वप्न में बनते होता कुछ नहीं उसका डर दूर कर दिया वो ठीक हो गया आपके सामने ये घटना आएंगी क्या सोच रहे हो आप है जी? आप सोचने लग जाओ बेकार है हम अपने खाए पिएंगे मजे में रहेंगे क्यों खाम खा झगड़े में पड़े जियेंगे जब तक जीते रहेंगे क्या करना है इससे बच नहीं सकते तो उसमें भी ध्यान देने की बात है कि एक व्यक्ति पूरे संसार का मंथन करता है प्रत्येक घटना जितनी भी घटना हो सकती है वो सारी बौद्धिक स्तर पर जाकर देखता है वो राजा बन के देखता है वो ऋषि बन के भी देखता है आपने दृष्टानुसर्विक तो सुना होगा ना एक तो दृष्ट और अनुसर्विक दो विभाग बनते पूरे उसके वो दृष्ट तो चीज हमारी देखी हुई है घटना मार काट जो भी कुछ देखी हुई और जो घटना देखी कभी नहीं परंतु वो हो सकती है और ऐसी सुनी जाती है वो सारी की सारी सामने आएंगी और सबका समाधान करेगा यद्यपि कुछ बातें ऐसी होती हैं अनुश्रविक रहती हैं चक्रवर्ती राजा हम नहीं बनेंगे मान के चले पर हम बौद्धिक स्तर पर चक्रवर्ती राजा बन के देखते हैं अच्छा आप देखते हैं राजा बन के अच्छा तो जी आप बौद्धिक स्तर पर राजा बन के देख सकते हैं और राजा बन भी जाएंगे <laughs> शेख चिल्ली वाली घटना सबका तो मध्य <laughs> क्यों जी शेख चिल्ली वाली घटना सुनी होगी ना जी या नहीं सुनी याद है कुछ व्यवहार बनने की बात याद है शेख चिल्ली वाली ये दो पत्नियां होंगी एक कल बच्चा आएगा जो कहूंगा नहीं तुझे नहीं करता होगा घड़ा <laughs> गिर गया कनस्तर गिर गया और कनस्तर <laughs> वो, वो वो जिसका वो घी था सेठ का जो घी लाया था वो कनस्तर था उसने बड़ा बुरा भला कहा बड़ा दुखी हो गया कि क्या बात है देखो मेरा इतना मूल्य का इतना मूल्य <laughs> मूल्य का मेरा घी चला गया उन्होंने कहता तेरा तो जीत रहेगा मेरा परिवार का परिवार जीत रहेगा तो आप देखेंगे कैसी विचित्र घटना है कि उस समय व्यक्ति राजा बन के देखता और राजा बनने पर भी दुखी बड़ी विचित्र अवस्था है राजा बन गया और राजा बनने पर भी दुखी कहता ये भी रहने की ठीक बात नहीं आपने कभी संख्या पढ़ा तो होगा भाव ने देव क्या पाठ है आए कि ध्यान देना पुनरावृत्ति वो क्या पाठ है वहां पर से भी आवृत्ति होती है हाँ वहां से भी आवृत्ति होती है तो क्या सोचता है इतने ऊंचा स्थान प्राप्त कर वहां से भी आवृत्ति होती है संख्याकार ने बात दोहराई ना आवृत्ति होगी वो ऐसे देखता है वो देखता है तो कहता नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए और कोई भी कल्पना करता है जो कुछ हो सकती है सारी कल्पनाओं को कर करके देखता पर उसको सुख नहीं मिलता दुख नहीं छूटता ऐसी स्थिति में आके लौकिक प्रयोजन से रहित हो जाता है व्यक्ति क्या समझ में आया लौकिक जितने प्रयोजन हो सकते थे दृष्टानुसर्विक उन प्रयोजन से रहित हो जाता खाली कर देता दुख नहीं हट रहा है सुख नहीं मिल रहा है तो उसको लौकिक स्तर पर कोई दृष्टानुसर्विक कोई भी स्तर उसको दुख हटाने वाला और शांति देने वाला दिखता ही नहीं अब ये स्थिति आती है और उस समय ये वैराग्य की बात जो सोचता है इसकी आकृति बदल जाती है इसके विचार बदल जाते हैं इसके हाव भाव बदल जाते हैं इसके इस इसकी जीवन की घटनाएं सारी की सारी समाप्त होती है जितना भी जीवन व्यतीत हुआ वह सारा जीवन समाप्त हो जाता है <laughs> पूरा जीवन समाप्त होता है और नया जीवन आरंभ होता है अब देख लीजिए आप यदि ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप विद्वान बन सकते हैं लेखक बन सकते हैं संस्थाएं चला सकते हैं ये सब सम्मान हो सकता सब हो जाएगा पर समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती ये नहीं हो सकता लौकिक स्तर पर आपको सब कुछ मिलेगा सम्मान मिलेगा धन मिलेगा साधन मिलेंगे जैसा आप देखते हैं सब हो जाएगा अब मैं आपको एक घटना सुना रहा था जब ये स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्ति रहना चाहता है कि मैं स्थिति में रहूं अब लोग उसको कहते हैं ये पागल हो गया क्या हुआ ये हुआ अच्छा उन्हीं बातों से वो डर करके अपनी स्थिति को छोड़ता है रह नहीं सकता उसमें जब नहीं रह सकता तो आप समझ रखना आगे नहीं बढ़ पाएगा इसलिए इन विषयों को समझने के लिए और स्वयं को ऐसी स्थिति में ले जाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा वो आप अच्छे प्रकार से विचार लीजिए आप कर सकते हैं ये पृथक बात है कि कोई कितना कोई कितना स्तर भिन्न भिन्न होते हैं पर मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाले को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति जब करता है पूरी शक्ति लगाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा उसके अंदर जो सत्यग्रहिता की भावना सत्य त्याग की जो पूरी रूपरेखा है उसके बस ये मूल में रहेगी तीन काल में पूरा सत्य क्या है बस मुझे ये चाहिए तीन काल में असत्य क्या है उसको मैं दूर फेंक करके हटके दूर रहना चाहता हूँ फिर उसको कोई डरा नहीं सकता कोई उसको धमका नहीं सकता कुछ भी नहीं रोक सकता और याद रखना ऐसे व्यक्ति को ईश्वर सीधी सहायता देता है क्या समझ में आया सत्य ईश्वर सीधी सहायता देता ईश्वर के आदेश अनुसार जो सोचता उसके आदेश का पालन करता और फिर ईश्वर समर्पण की जो स्थिति है वो उसको ईश्वर सीधी सहायता देता अब आप प्राप्त न कर सकेंगे आपकी अपनी त्रुटि दोष रहेगा ईश्वर की ओर से कोई दोष नहीं अब विराम